बजा प्रेम पिरुओं से जब पुकार का साज कानों में आए तभी यह प्यारी आवाज भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो अब तुम्हें न कोई भय होगा यह धरती होगी रंगभूमि धरणी धर का अभिनय होगा सुन सकते नहीं कान मेरे अत्यधिक पुकार अधीनों की देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल क्या प्रबल हाय है दीनों की वध तु हिरण्य कश्यप के जो अविलंब खम्ब से निकला है वही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है जग की पुकार सुनकर तक्षण जो नंगे पैरों धाता है भक्तों तुम सबकी रक्षा को वही फिर दौड़ा आता है पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी मैं तेरा ताप मिटाता हूँ दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आ गिरजे यह आवाज थी जा था अभय प्रसाद हम सब गदगद हो गए सुने ऐसा संवाद ब्रह्मा ने कहा बधाई है भगवान अवध में आते हैं फिर बोले उनकी सेवा को हम बानर बनकर जाते हैं प्रीतमें बताऊं कैसे मैं अपनी उस प्रेम अवस्था को मैंने भी कहा नदी नादी से चल तू भी आज अयोध्या को वह समय ध्यान में आते ही आनंद उमड़ता आता है रहने दो कथा प्रसंग यही तब आगे कहा न जाता है कहनी है मुख्य बात इतनी इत हेतु राम अवतार हुआ अब समझ गए तुम किस कारण वह निराकार साकार हुआ शैल सुता हर्षित हुए सुनकर वह संवाद बोली अब जाता रहा सब संदेह विशाल मैं बड़ भागिनी हूँ स्वामी ने अवतार रहस्य सुनाया है जो पूर्व जन्म में नहीं मिला वह इस जीवन में पाया है अब दयान धान विनय की है तो और दया करिए अथ से तक विस्तार सहित वर्णन श्री राम कथा कहिए शंकर बोले धन्य तुम धन्य तुम्हारा चाओ है तुमसे मुझको नहीं कोई कपट दुरा कहता हूँ श्री राम काम अब संपूर्ण चरित्र श्रवण सुखद कल्याण प्रद निर्मल परम पवीर श्री राम का पावन चरित मन कामना दातार है निस्तार इस संसार में सचमुच यही तो सार है भौतिक सुखों की कांखियों को सिद्धियों का द्वार है भौतिक सुखों की कांखियों को सिद्धियों का द्वार है निष्काम संतों के लिए सद ज्ञान का भंडार है श्री राम पावन चरित मन कामना दातार है निस्सार इस संसार में सचमुच यही तुषार सार है इसका कथन इसका श्रवण करता महा उपकार है नव सिंधु तरने के लिए इसका मनन पतवार है राम का पावन चरित मन कामना दातार है निस्सार इस संसार में सचमुच यही तो सार है तेराम का पावन चरित मन कामना दातार है आनंद गायक वृंद का कवि वृंद का श्रृंगार है आनंद गायक वृंद का कवि वृंद का श्रृंगार है अपनी कहूँ मैं बात क्या मेरा यही आधार है श्री राम का पावन चरित मन कामना दातार है निसार इस संसार में सचमुच यही तो सार है सचमुच यही तो सार है सचमुच यही तो सार है